आप कहते मैं अपने रब की तरफ से एक वाज दलील पर हूँ और उसको तुमने झुठला दिया है जिसकी तुम जल्दी मचाते हो वो मेरे पास नहीं है फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का है वही हक बयान करता है और वो फैसला करने वालों में से बेहतरीन है